बन के आई हो जाने किस दुनिया की तुम पर छाई हो भूली बिसरी यादें साथ याद रखने के लिए नहीं लेकिन मैं कैसे भूलती उनके साथ बिताए दिन बहुत प्यार करती थी मैं उनसे ये जानते हुए भी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है काश उन्होंने पहली बार ही गन्ना उठाई होती तो शायद और जॉन जुर्म के दलदल में धंसते चले गए इस 500 एकड़ की जमीन पे सिर्फ मेरी नहीं यूनुस की भी नजर है ये काम कोई पॉलिटिशियन ही कर सकता था हम्म, मैंने इस त्रिवेदी को ट्रस्ट किया था और ये अगर नहीं माना तो वेल well, नहीं माना तो तो छोड़ दूंगा उसे <laughs> Why? You don't trust me trust trust है जयराम जी की कैप्टन साहब त्रिवेदी जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ क्यों जावेद मेरे लोगों को थ्रेटन कर रहा है मलेशिया हांगकांग में मेरे डीलर्स को उसी ने मरवाया था और आप उससे हाथ मिला रहे सो अनफेयर त्रिवेदी आखिर आप हमारे दोस्त हैं ना नहीं नहीं बिल्कुल मैं आप ही का दोस्त हूँ कैप्टन साहब बिल्कुल ठीक सोचा आपने आपने अच्छा किया जो मुझसे सीधा पूछ लिया आई नो आप तो अलग नहीं होना चाहते ना नहीं नहीं लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं I am sorry my son John कमाल है कैप्टन साहब लेकिन आपने बताया नहीं कि आपकी फैमिली भी है अरे ये किसने कहा आपसे क्या ये मेरी फैमिली नहीं हाँ क्या ये फरीद मेरी फैमिली नहीं लेकिन आपको मैंने फैमिली से मिलाने नहीं उस जमीन की प्रोग्रेस पूछने के लिए बुलाया है देखिए क्या है कैप्टन साहब के उस लैंड में थोड़ी प्रॉब्लम है हमने आपसे इतनी जमीनें खरीदी हैं कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको इस बार भी नहीं होगा आपकी पूरी पेमेंट अभी करते हैं फरीद नहीं नहीं एडवांस नहीं नहीं देखिए कैप्टन साहब देखिए एडवांस की बात नहीं आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए और कहीं थोड़ा वक्त दीजिए ऐसी बात तो नहीं त्रिवेदी जी कि यूनुस को वो लैंड नहीं नहीं यूनुस नहीं है हाँ। जावेद आशी जावेद बहुत प्रेशर डाल रहा हूँ जमीन के लिए माफ कीजिएगा कैप्टन साहब लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा शिट और कोई हुक्म कीजिए त्रिवेदी जी त्रिवेदी जी अब और क्या हुक्म देंगे आपको हम हम्म? हमारी जमीन का काम तो आपने किया नहीं एक छोटा सा काम तो कर दीजिए बताइए ना अभी कर देता हूँ मछलियों का चारा चाहिए था बताइए कहां से चाहिए कहां से क्यों आपके पास तो है बस जरा सा ये क्या कर रहे हो कितना तो पागल हो गए हो देखा जॉन कैसी अजीब अजीब हॉबीज होती हैं लोगों की मेरी फिशिंग की हॉबी है तो इसकी मछलियों का चारा बनने की <laughs> मैंने कितनी हिंट्स दी लेकिन माना ही नहीं लगता है जावेद की भी यही हॉबी है वो कल सिंगापुर जा रहा है अन्ना से मीटिंग कर रहा है नहीं होगी बोल अच्छा ये बता जू में दो गेट है एक बड़ा एक छोटा हिरन जम करके जाता है तो छोटे गेट से और आता है तो बड़े गेट से क्यों उसके जाने के बाद छोटा गेट बंद हो जाता होगा नो no. गेट की हाइट का कुछ शायद हम्म। आने के टाइम गेट के सामने कोई जानवर आ जाता होगा बड़ा जानवर शेर नो no. चल पास जम तू ही बता दे हिरन की मर्जी कहीं से आए जाए Shit. <laughs> Bullshit. अरे मिल नहीं रही यार क्या नहीं मिल रही फिल्म की टिकट मिल गई मिल गई अपनी सुष्मिता सेन के फिल्म है मेरी सुष्मिता सेन कौन सा शो है first show obviously stupid first show पागल हो गया पहुंचेगा कैसे क्यों करना क्या है हमें खाली घर में घुसना है थोड़ा सा वेट करना है बॉस गोल्फ खेलेगा चल देना है सिंपल एफ ऐश्वर्या मुझे तो ऐश्वर्या पसंद है माँ कसम क्या बॉडी है क्या फेस तो मेरी बुलबुल उसे प्रपोज क्यों नहीं करता कई बार सोचा फिर लगा कि मेरे से शादी करेगी तो फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा वो क्या है कि दूसरों का दर्द मेरे से सहा नहीं जाता लेट्स हम्म। गो पापा अपने बिटिया को सब अच्छे अच्छे टॉयज देंगे चॉकलेट देंगे छुट्टियों में मजा आया था ना हाँ। हुँ? हुँ? हम्म। पापा आई थिंक सो वो रो रही है Dia. Dia. She's crying. पापा I think so. सब टॉयज उसको ही दे देना तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा इट्स ओके okay. कैफ दो <laughs> बंदूक चलना बंदूक एक दो दो बंदूक सिंगापुर निकल रहा है जावेद आज हाँ सिंगापुर कैंसिल सीधा ऊपर जा रहा है ओके तगड़ा झटका लगेगा यूनुस को झटका कैफ फिनिश हो जाएगा फिनिश <laughs> बुल तो किसी एंगल से बैल या सांड तो लगता नहीं फिर तेरा ना बुल किसने रखा और क्यों तू मर के ऊपर जाएगा ना तो तू मेरे बाप से पूछ लेना ठीक है वैसे बुलबुल सही नाम रखा तेरा बॉस ने बहुत मस्ती हो गया इनफ on, John. तू चला जा सिर्फ पांच सेकंड के लिए जावेद होगा बाहर अगर तेरा निशाना चुग गया मेरा तो... निशाना बुरा नहीं है ओके okay? चल जॉन निकलना होगा यहां से जॉन चल कैफ माफ भी कर दे यार क्या हुआ तुझको मैं ठीक हूँ जावेद के साथ चार और उड़ा दिए one for one free scheme लेकिन पेमेंट तो एक का ही मिलेगा इसमें लिखा था कि घर खाली था हाँ फैमिली एक हफ्ते बाद आने वाली थी लेकिन अचानक आ गई तो मतलब तुम्हें तो पता चल गया था गलती हो गई चला तू और कह तू गलती हो गई जॉन जॉन जाने देना छोड़ना उसे जॉन आगे से ऐसी गलती कभी मत करना इससे पहले कर तू गेट आउट जावेद की खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस बस ये ठीक नहीं किया कैप्टन ने यूनुस भाई ये ठीक नहीं किया अब सहा नहीं जाता पहले बिजनेस में शेयर मांगा और अब ड्रग्स का बिजनेस करने के लिए पैसा भी शुरू में कमी सही पर हिस्सा तो मिलता था अब हालत यह है कि भाटिया और कपूर ने जब शेयर मांगा तो कहा कि ड्रग्स पकड़े गए और पुलिस रिकॉर्ड कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ हुँ? हम्म। यूनुस भाई आपको जावेद की मौत का बदला लेना है और हमें कैप्टन की मौत से हम सबको फायदा होगा और कपूर वो क्या कहता है वर्मा के रहते वो कैसे आता है वैसे गोल्फ क्लब में मेरी उससे बात हुई वो भी कैप्टन की मौत चाहता है बहुत एहसान है कैप्टन के मुझ पर लगता है उन एहसानों को चुकाने का वक्त आ गया है दिस वे सर या ठीक है उसे देख लेना सबको बयान लो थोड़ा प्यार से हाँ right seal off the area I will माता जी आप इनको कब से जानती थी मैनेजर थे सर नागेश ठाकुर एक महीने की छुट्टी पे गए थे अगले हफ्ते आने वाले थे तो किसी की शादी का फंक्शन था इसलिए पहले आ गए सर घर पे कौन कौन थे मेजर नागेश उनकी बीवी और एक बच्ची सर दो बच्चे पास भी यहाँ पे डॉल है आप ऐसा करो ना आप अपनी डॉल मुझे दे दो और ये डॉल आप ले लो डोंट वरी बेटा ये देखो कुछ नहीं होता इसको मैं रख देता हूं यहाँ पे सर इसका नाम दिया है आपको पता है मेरी भी आप ही की तरह एक छोटी सी बेटी है उसका नाम पता क्या है उसका नाम है पिया देखो मेरे पास उसकी फोटो भी है यहाँ पे ये देखो फोटो है उसकी अब आप ही मुझे बताओ कौन ज्यादा स्वीट है आप ज्यादा स्वीट है कि पिया हाँ ये लो ग्रेट जॉब सर उस शाम जब जॉन मुझे लेने आए तो उनकी आंखें देखकर मैं समझ गई कुछ हुआ है से भरा ना इतने इडियट लोग आए थे ना <laughs> तुमने उस गंजे को देखा था जो वहां बैठा था वहां पे देखा था ना गेस वॉट ही डिड उसने अपना कार्ड निकाला मुझे दिया और पूछता है मुझसे आप प्राइवेट पार्टीज में गाना गाती हैं मैंने बोला नहीं तीन बार उसने मुझसे वही सवाल किया और तीन बार मैंने वही जवाब दिया then guess what I did showed him the finger उसकी शक्ल देखने लायक थी he did know what to do that's funny John या <laughs> मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो बाबा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है हाँ आई फाइन हम्म। मैंने पंद्रह तारीख तक छुट्टी ले ली है वाई वाई <laughs> मतलब क्या पंद्रह तारीख तक मैंने छुट्टी क्यों ली होगी मैंने भी तुमसे बोला ना कि तुम मानो ना अफोर्ड नहीं कर सकते मैंने क्यों बोला होगा पंद्रह तारीख को क्या है I don't remember. <gasps> तुम्हें याद नहीं शालिनी आज कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें सच्ची में याद नहीं इस महीने की पंद्रह तारीख को क्या है आई रिमेम्बर इस महीने की पंद्रह तारीख को हमारी पहली मुलाकात की तीसरी anniversary how could you forget that I am sorry अब इतनी क्यूटली सॉरी बोलोगे तो फॉरगिव तो करना ही पड़ेगा ना <laughs> पंद्रह तारीख तक कुछ नहीं ना तुम कहीं जाओगे ना मैं सिर्फ मैं और तुम तुम्हारी फेवरेट वाइन मैंने फ्रिज में रख दी है लक्ष्मी को भी छुट्टी दे दी है हम लोग खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या <laughs> अरे रे बैठ क्यों रहे हो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है कमे कमे कमे कमे ये बात देख रहे हो जान अगर हम इसमें रोज पानी डालेंगे ना तो ये ब्लूम करेगा पंद्रह तारीख को हमारी एनिवर्सरी के दिन Isn't that romantic? तुम्हारा ध्यान कहाँ है सुबह से कुछ खाना खाया कि नहीं please don't not like that हाँ एकदम उस मैनेजर की याद आती है मुझे ऐसे या ऐसे हाँ या ना I mean say clearly man actually आज वो बहुत रोया था बेचारा <laughs> जब मैंने उसे बोला ना कि देखो मैं पंद्रह तारीख तक गाने वाली नहीं और अगर गाऊंगी तो सिर्फ अपने पति परमेश्वर के लिए <laughs> उसने बोला पंद्रह हजार रुपए तुम्हारी सैलरी से कट जाएंगे कैन यू इमेजिन अगर वो कहता कि नोट छुट्टी तो जॉन प्लीज मुझे वो रैग पास करना जब हमारा अपना घर होगा ना तब उसमें हम चारों तरफ प्लांट्स लगाएंगे अंदर एंड बाहर बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी उनमें से ठंडी ठंडी हवा आया करेगी पर्दे उड़ा करेंगे और फर्श हमेशा प्लीज पत्थर की होगी I cannot handle this flooring ये लकड़ी बकड़ी and all can you imagine just you and me समुंदर के किनारे गहरा नीला पानी बड़ी बड़ी waves reporting from Challenger Building at the coast. This is the house of Major Thakur and his innocent family who were brutally murdered. The police have no leads yet. Major Thakur. क्या हुआ जान अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कैसे बता पास हुई लेकिन गलती तो हो गई शालिनी बहुत बड़ी गलती अचानक वो मेरे सामने आ गई उस मासूम को यह भी पता नहीं था कि वो मौत का सामना कर रही है सी आवाज गूंज रही يسهل यूनुस फूल मिल गए बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया बदकिस्मती हमारी कि इतने दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है और देखिए ना खुशकिस्मती आपकी कि कुछ दिनों के लिए ही सही अल्लाह मियाँ ने आपको लाइफ का एक और बोनस दे दिया यूनुस वो फूल जावेद नहीं तुम्हारी कफन पर चढ़ाने के लिए भेजे भाईजान भाईजान न बादशाह न राजे महाराजे न लाट साहब रहे आप किस गलत फहमी में गद्दी से चिपके हुए हैं है? अरे अपनी इन पहलवानी हड्डियों को आराम दीजिए आपके रिटायरमेंट की उम्र हो गई है <laughs> तुम्हारे साथ उन सब लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा जो समझते हैं कि कैप्टन का जहाज डूब रहा है और हाँ यूनुस अकेलेपन की फिक्र मत करना कंपनी के लिए तुम्हें दो चार दोस्त भी भेज दूंगा हम लोग सब कुछ क्यों नहीं ले जा सकते मैं ऐसे नहीं जा सकता शालिनी मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हें छोड़ देगी और चलो अगर पुलिस ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम मेरी जगह होती मैं तुम्हारी जगह हूं जॉन चौबीस घंटे क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझ पर क्या गुजरती है अगर हम भागे और तुम्हें कुछ हुआ तो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो I thought we were done with this पंद्रह मिनट में हम लोग यहां से बाहर हो सकते हैं पंद्रह मिनट उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचेंगे no John please sub inspector Nayak ACP Wagh से बात करनी है किस सिलसिले में वो मैं उन्हीं को बताऊंगा उनको फोन दो देखिए वो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग में है एनी मैसेज अभी चलते हैं बाद में फिर ट्राई कर लेंगे कैप्टन पे अटैक हुआ है कैप्टन ने बुलाया है बाद में होगा अभी बुलाया है मुझे साथ में लाने को बोला है बाकी तुम बात कर लेना एक मिनट रुक सूखने से पहले उसका जनाजा तैयार हो जाएगा वो सब तो ठीक है सिर्फ एक सवाल था हमारा काम हो जाएगा ना मेरा मतलब कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आप कैप्टन से बात कर रहे हैं आप ठीक हैं यस देखो अब कॉम्प्रोमाइज नहीं डिस्कशंस नहीं मीटिंग्स नहीं अब सिर्फ एक्शन इस बार तुम्हें बहुत मजा आएगा जॉन यूनुस को मारना है इमिडिएटली नहीं पहले उन लोगों को मारना है जो यूनुस को कैप्टन बनने के सपने दिखा रहे हैं you gonna love this job John you gonna love it कोई बात नहीं ये फरबुल संभाल लेंगे नो no! ये काम तुम करोगे बोल और कैफ तुम्हारे साथ आ सकते हैं लेकिन काम तुम्हें करना होगा डोंट टेल मी यूनुस के नाम से तुम डर गए हो कम ऑन सन हमेशा की तरह जस्ट शेक माय हैंड मैं ये काम छोड़ रहा हूं जॉन जॉन जॉन जॉन तो मुझे ना बोल रहा करेक्ट <sighs> और इस ना की वजह मैं और शालिनी शहर छोड़ के जा रहे हैं कहा जाओगे क्या करोगे फार्मिंग करोगे गाय भैंस चराओगे मुर्गी पालोगे क्या करोगे don't be a very romantic fool देखो जॉन अगर दो दिन पहले तुम मुझसे ये बात कहते तो मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ने आता लेकिन आज नहीं मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं जॉन और आज जब फादर पे अटैक होता है तो बेटा घास काटने जाएगा नहीं मैं नहीं चाहता कि कोई सेट डाउन लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास ये है ये है तुम्हारे पास जॉन इसलिए डरते हैं और लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है पावर है और तुम हो जिनके पास कुछ नहीं होता वो फेवर मांगते फिरते हैं और दूसरे लोग पावरफुल लोग जिनके पास पावर होता है वो कुछ भी कर सकते हैं जो भी न्याय कर सकते हैं जब भी में कर सकते हैं जब भी में कर सकते हैं दिमाग से फालतू बातें निकाल दो आओ कम ऑन आज मैं आपसे हाथ आखिरी बार मिला रहा हूं इसके बाद दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे तुम लौट आओगे जॉन जरूर लौट आओगे मेरे पास क्योंकि बाहर की दुनिया जितनी तुम रोमांटिक समझते हो उतनी है नहीं जॉन Good luck. ना नहीं बोलता तो क्या बोलता मुझे अब ये काम नहीं करना है तो जानता है जॉन कैप्टन को ना सुनने की आदत नहीं है आज से आदत डाल ले मेरी बात समझने की कोशिश कर जॉन एक छोटी सी चीज के लिए कैप्टन फकरू को तू जानता है सब क्या हुआ गाड़ी को क्या करा तू फकरू कौन है उसका क्या तेरे आने से पहले की बात फकरू ने भी मना किया था कैप्टन की तलवार चमकी और फखरू की गर्दन साफ दैट्स कैप्टन कैप्टन को ना सुनने की आदत नहीं सारे खतरे जानता हूं मैं ठीक है फिर जान जितना जल्दी हो सके वही करूंगा बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं बस दो दिन की तो बात है कैप्टन का भी काम हो जाएगा और हो तुझे भी कोई खतरा नहीं होगा किसी को क्या पता चलेगा और मुझे मुझे भी पता नहीं चलेगा मुझे अभी निकलना है शालनी के साथ बस एक मिनट हो गई समझो अकेला लग रहा होगा ना घर शालिनी के बिना अरे वो है इतनी अच्छी यो सो लकी मुझे लगा वो अकेली होगी इसलिए उसे अपने पास बुला लिया शालिनी और मैं अगले दो दिन तक साथ ही रहेंगे और और ढेर सारी बातें करेंगे शालिनी कहा है मुझे शालिनी से बात करनी है अभी इसी वक्त शराब गर्ल डजन इवन नो कि हमने उसे किडनैप किया है John is that you hello Shalini तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? मैनेजर ने कहा था कि कोई खतरा है। तुम तुम अपना सेलफोन भी घर पे छोड़ के चले गए। कहाँ हो अभी तुम? बस एक छोटा सा प्रिकॉशन लेना है एक दूसरी पासपोर्ट तैयार करवा रहा हूँ मैंने तुम्हें इसलिए वहां रखा है ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो ट्रस्ट मी शालनी वही तो करती तुम कहाँ रहोगे तब तक मेरी फिक्र मत करो कैसे नहीं करूं तुम्हारी फिक्र बता तो दिया होता कि मुझे यहाँ आना है अच्छा सुनो you'll do me a favour क्या तुम घर जा सकते हो क्यों शायद जल्दबाजी में मैं गीजर ऑन छोड़ कर आ गई ओके okay. <laughs> और सुनो सुनो सुनो अगर तुम घर जा रहे हो ना तो आम, मेरा जो प्लांट है ना उसमें पानी डाल देना पानी नहीं डालोगे तो वो मर जाएगा दोनों काम हो जाएंगे तुम अपना ख्याल रखना Where's my kiss? I give you my word तुम उन पांच जानों को यहां ले आओ और अपनी जान को यहां से ले जाओ तुम जब एक जान लेकर आओगे अपनी जान से फोन पर बात कर पाओगे डील अगर मेरी जान को कुछ हुआ आई विल किल यू कौन कब कैसे कहा सब इसमें है मेरी बात मान भाई डोंट भाभी I mean it's too risky भाई अगर हम कैप्टन की बात मान लें तो पता जल्दी बोल मुझे मारेगा तो शालिनी भी मरेगी हेलो कैप्टन आप शर्त जीत गए ये पागल वाकई शालिनी को बचाने चला आया वॉच इट जॉन इस गुस्से और पागलपन को उन पांच लोगों को मारने के लिए बचा कर रखो वेस्ट एनी मोर टाइम इससे पहले कि शालिनी मछलियों का चारा बने गो माय बॉय गो याद करने की कोशिश करिए आपने उसकी आंखों में देखा है उसकी आंखें कैसी थी सोचने का वक्त नहीं है काम जल्दी करना पड़ेगा और नहीं की गुंजाइश तो तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है बुल भाई ये काम आसान नहीं है बिना सोचे समझे उठाए हुआ कोई भी कदम भाभी को और भी खतरे में डाल सकता भाई कुंडलियां खोल यूनुस इस्माइल अपने होटल के टॉप फ्लोर में बंद स्टाफ के नाम पे सारे लोग उसके गार्ड चौबीसों घंटे होटल पे निगरानी पाटिल साला पुलिस वाला चल आगे चल इंदर कपूर नेशनल इंडस्ट्रीज चारों तरफ गार्ड्स बुलेट प्रूफ गाड़ी में घर से फैक्ट्री फैक्ट्री से घर कभी कभी गोल्फ खेलने जाता है बस वर्मा गोली खा चुका है पहले बच गया घर में ही ऑफिस बना रखा है चूहे की तरह छुपा रहता always surrounded by cards always Bhatia ऐश की जिंदगी जीता है ऐश की मिनिस्टर के साथ उसके ही सिक्योर जिम में वर्कआउट करता है और वहां भी गार्ड्स सुबह सुबह जॉगिंग नरमन पॉइंट में ऑफिस वहां भी सिक्योरिटी मजबूत सीम्स इम्पॉसिबल इन्हें पॉसिबल बनाना है भाटिया भी कहा होगा नरेमन पॉइंट लेट्स गो जल्दी कर जल्दी कर जॉन निकल जाएगा बच्ची बच्ची कहां है बच्ची जॉन वहां कोई बच्ची नहीं है जॉन निकल रहा है वो जॉन क्या कर रहा है आखिरी मौका था ये भाटिया सिर्फ रात में अपनी नई आइटम के नाइट क्लब में मिल सकता है सुना है कड़ी सिक्योरिटी पर I am sure we'll manage it John I don't know how लेकिन हो जाएगा शायद ऊपर से ऑर्डर्स हैं एसीपी वाक पर्सनली प्रोटेक्ट कर रहा है और जॉन अगर भाटिया को नहीं मारा तो कैप्टन नाराज हो जाएगा मेरी ज़रा सी तकलीफ पर जॉन तड़प उठते थे ये बात सिर्फ मैं ही नहीं जानती थी कैप्टन भी जान गया था अपने दोस्त से पूछना मुझसे और कितने पाप करवाएगा हम्म? खैर छोड़ो उसे कहना अभी टाइम नहीं है है ना जी Chapati, how are you? I'm fine, thank you. Officer अंदर पुलिस वालों की जरूरत नहीं है प्लीज पूरी सिक्योरिटी है वैसे भी कोई गलत आदमी अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता डोंट वरी सर लेकिन मैं चांस नहीं ले सकता feel like I've been lost inside my head, inside my mind, for all of time, all of time. तैयार हो गया है और मैंने विटनेस को ही बुला लिया है मुझे कोई तकलीफ नहीं आई एम सॉरी तुम्हें अफसोस है ना कि उन्होंने मेरी एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाया तुम मेरी जगह होती तो क्या कहती कैप्टन ने मुझे और मेरे चूजों को खुद मुझसे मारने की धमकी दी है जोर ये हम्म। तो यह है कैप्टन का तुरुप का पत्ता हम्म। इसका पता श्रीमान वाक पता कर रहे हैं उसे पता लगते ही अपने को पता लग जाएगा हम्म। You're absolutely right, Mr. Lalwani. Police को शक है that there is a hit list. हम्म। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने मोमेंट थोड़े रिस्ट्रिक्टेड रखिए आप सिर्फ इतना कीजिए कि जो भी आपका शेड्यूल जो भी आपका रूटीन है उसके बारे में हमें इतला करते रहिए पाटिल साहब अरे आप अपने बैंक अकाउंट की हरियाली का मजा लीजिए ना हम्म। अपने कुछ लोगों के नाम उस लिस्ट में घुसा तो सकते हो हम्म। या सिर्फ उस मैडम के यहाँ घुसना आता है और दो तो पुलिस वाले आपके साथ हमेशा प्लेन क्लोज में रहेंगे अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसी कुछ गड़बड़ लगती है तो आप मुझे फ़ोन करिएगा जॉन कपूर पहले पहुंच गया चल चलते तुम लेट्स गो जॉन जॉन अचानक एसीपी वाघ आ गया और कपूर को ले गया फिक्र मत कर जॉन अभी अभी वक्त है हमारे तो पास। तो नहीं है मेरे पास वक्त ही तो नहीं है बर्बा और कपूर को एक साथ मारना होगा हाँ जॉन लेकिन कैसे I I mean mean, Verma और कपूर एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं इन दोनों का साथ में आना जस्ट सीम्स इम्पॉसिबल आएंगे दोनों एक साथ आएंगे उन दोनों के बीच एक चीज कॉमन है उनका बैंक और banker captain Shalini is creating problems पागलपन क्या पागल ये हम्म? शालिनी शालिनी यहाँ से भागने की कोशिश मत करो बेटा बेकार है तुम यहाँ से तभी जा पाओगी जब जॉन मेरा काम पूरा कर देगा रिलैक्स और देखो बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते मैं जॉन को अपना बेटा मानता हूं और मानो ये तुम्हारा अपना घर है और बस एक और दिन की बात है hmm? then it's all finished. Over. Do you have a problem with that? Do you have a problem with that? नहीं ना good girl एक मिनट मैं तुम्हें जॉन से बात करवाता हूँ hello operator connect me to john hello John Shalini ने यहां से भागने की कोशिश की she is creating a nuisance over here उसे कल को कुछ हो जाता है तो मुझे मत कहना देखो उसकी हरकतें यूं ही चालू रहीं तो मैं अपनी खुद की गारंटी दे सकता हूं लेकिन फरीद और बाकी गार्ड्स की तो नहीं ना हा? तुम उसे समझाओ ओके वन मिनट लो जॉन से बात करना और behave please Shalini Farid ji captain मेरा काम होने तक शालिनी को कुछ नहीं होना चाहिए जी कैप्टन अगर उसे कुछ हो गया ना तो क्यों कर रही हो ऐसे मैंने सोचा था अगर मैं भाग गई तो तुम्हें और खुद करने से रोक लूंगी I'm sorry. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना एक बात कहूं जब हम अपना घर बनाएंगे तब उसमें फर्श लकड़ी की लगाएंगे पत्थर की फर्श बहुत ठंडी होती है और सख्त भी और जो पढ़ते हैं ना उन्हें सिर्फ लाइट कलर्स की लगाएंगे ताकि हमेशा रोशनी रहे क्या होगा ना वो जिंदा क्या उसमें कल के लिए तुम्हें एनिवर्सरी याद थी जॉन सच बोलू मुझे कुछ याद नहीं है तो फिर तो मेरी आवाज भी भूल गए होगे तुम्हारी आवाज हमेशा मेरे साथ रहती है बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे समुंदर के किनारे गहरा नीला पानी सिर्फ मैं और तुम और हवाओं में बहती तुम्हारी आवाज मेरे लिए जॉन ने दोबारा कन उठा ली थी उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया मुझे ले जा सांस ही तो बाकी है इसे भी ले जा ले जा धड़कने खाली हैं इन्हें भी ले जा ले जा जो चाह वो नहीं है जो न चाह बरकत में है जो सुकून चाहतों में मिला कुर्बा वो चाहत पे है जो चाहा वो नहीं है जो बरकत में है जो सुकून में नहीं वो सुकून गड़बड़ हो गई है शालिनी ने अपने रिस्ट काट लिए है नहीं नहीं जिंदा है इसे भी ले जा सांस ही तो बाकी है से भी ले जा धड़कने खाली हैं केस सॉल्व होने में महीने डेढ़ महीने लग सकते हैं इतना रिस्क लोगे ओके नहीं दूसरे डॉक्टर्स को शक होगा ओके ठीक तीन बजे वर्मा ईरानी बोल रहा हूँ बैंक जाके अपने अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लो बैंक सील होने वाला है रिजर्व बैंक टेक ओवर कर रहा है मुझे फोन मत करना वरना दूसरे डायरेक्टर्स को शक होगा शार्प एट थ्री मैं आपसे वहीं मिलूंगा ओके कपूर साहब को लेके पवई जा रहा हूं साहब क्या हो गया अब शेड्यूल में चेंज क्यों है उनको जरूरी काम आ गया बैंक में सर इसलिए उनके साथ पवई जा रहा हूं <sighs> ओके आउट कमाल है ना जान से ज्यादा बिजनेस की परवाह इनको बिजनेस ही तो इनकी जान है sir hello hello hello Shukla बोल रहा हूँ sir sir mister Mirchandani ने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए सर सर अब हम उन्हें लेकर के अलीबाग वाले रेस्ट हाउस पे जा रहे हैं अलीबाग पुलिस को इन्फॉर्म किया yes sir hello sir one minute sir mister Shah hello good afternoon sir sir I am sorry sir इतने बड़े एरिया को पुलिस प्रोटेक्शन देना बहुत मुश्किल है सर अगला आदेश क्या है sir all station stand by yes sir sir please कुछ दिन की बात है please cooperate sir thank you so much sir Verma Scott man reporting sir come in producer Verma को लेकर पवाई जा रहे हैं सर रहे मिल कॉलोनी के रूट से शूटिंग पे शूटिंग नहीं सर उन्हें बैंक में जरूरी काम है ओवर एंड आउट सर भाई पुलिस को फोन करो और पुलिस पार्टी तैयार करो सर क्विकली प्लेन क्लोज में Hashinde. सर प्लीज मैं आप लोगों को पहले भी वॉर्न कर चुका हूं आप लोगों की जान को खतरा है यहां पे आके आप मेरा काम मेरे लिए आसान नहीं कर रहे प्लीज मेरे साथ चलिए आप आज ही नहीं यहाँ से ले जाइए तुम्हें प्रॉब्लम है देखिए पुलिस ने यहां किसी को रखा है और खुद भी पुलिस यहां आती जाती रहती है इसीलिए तो कह रहा हूं इंजेक्शन दो इसे बेहोश रखो बस मिस्टर फरीद मैं इन्हें कॉम्पोज नहीं दे सकता लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है शी इज प्रेग्नेंट अगर मैंने इन्हें और कॉम्पोज दिया तो माँ और बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है दिया कैसा है बेटा इसका कोई रिश्तेदार मिला क्या पुअर बेबी अगर कोई रिलेटिव नहीं मिला तो तो क्या अनाथालय जाएगी और क्या इतनी प्यारी बच्ची को कोई अनाथालय कैसे भेज सकता है ऐसे लोग को आपसे तो, कोई मिलने आया है सर हाय दिया देखो मैं आपके लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लाई हूँ आपको ये खोल के दूँ खाओगे आप अब आपकी तबीयत कैसी है हाँ बोलो सलीम उसका पता चल गया है जॉन नाम है उसका गुड वर्क कहाँ रहता है बांद्रा जाओ उसके आसपास और घर में कौन कौन है सिर्फ बीवी है बटरफ्लाई लॉन्च में गाती है बटरफ्लाई लॉन्च मैं आपके गोद में सो सकती हूँ हाँ आ जाओ तुम उसकी बीवी के जरिए जॉन का पता करो आपसे गलती हो गई हाँ जी बस एक पल के लिए मैं एक पल बड़ी फूल जानते हो एक पल में क्या होता है एक पल में किसी की जान चली जाती है मुझे गोली मत मारिए प्लीज अगर शालिनी मुझसे पहले जॉन को मिल गई तो कौन मरेगा हाँ आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा झुको झुको थोड़ा और झुको क्या खबर दो ट्रांसफर एक साथ फैंटास्टिक वेरी गुड और बाकी के जॉन बाकी की बात बाद में पहले मुझे शालिनी से बात करनी है aha you lack simple faith my son हर ट्रांसफर के बाद कुत्ते की तरह शालिनी के पीछे पड़े रहते हो शालिनी कहाँ है मुझे शालिनी से बात करनी है मुझे अभी बात करनी है मुझे अभी बात करनी है मुझे अभी मुझे अभी बात करनी है ठीक है ओके एक मिनट शालिनी आहो शालिनी अरे मेरी की स्टार्ट हो रही है मैं बारिश बहुत प्लीज हाँ, हाँ, मुझे आपके फोन की जरूरत मुझे आपकी मदद की छोड़ो फोन प्लीज मैं जोड़ नहीं हूँ मैं बिल्कुल जोड़ नहीं हूँ मुझे एक फोन करना है बस एक प्लीज ठीक है give me your number nine eight two hundred four two four two zero Shalini Shalini लगता है सो रही है सो रही है हाँ। दरअसल उसे कंपोज का इंजेक्शन देना पड़ा डोंट वरी जैसे उठ जाएगी बात करा दूंगा I don't get a damn it's a deal of course it's a deal it's a deal I know it's a deal engage आ रहा है एक और बार बस एक प्लीज अभी भी एंगेज आ रहा है हाँ, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगी बस एक और बार कोशिश कीजिए ना वन टाइम वक्त बहुत कम है that's what I am trying to tell you damn वक्त बहुत कम है एक्ट फास्ट मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं कैप्टन अगर मेरी शालिनी से बात नहीं हुई तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे रिंग बजी जॉन शालिनी मुझे पता नहीं कहां तक रखा था मुझे लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ अभी कहा हो तुम एक्सक्यूज मी फोन दीजिए प्लीज बैंक बैंक बैंक के सामने कौन सा bank Indian bank Indian bank उन्होंने मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है जॉन क्या शालिनी बताओ I have to go please give me the phone तुम जल्दी से आओ फिर तुम्हें मैं बताती हूँ शालिनी डोंट वरी बीस पच्चीस मिनट में पहुंच जाऊ मैं आई बी देयर जल्दी से प्लीज आ रहा हूं मैं है सिर्फ दो आदमी बाकी हैं खत्म कर दो सर आप फिक्र मत करें दोनों का काम हो जाएगा सर हाँ। क्या मैं इसकी बात मान लूं? कैप्टन का भी काम हो जाएगा और कि अगर हम कैप्टन की बात मान लें तो अभी कहा हो तुम जॉन एक बात बताना भूल गया तुम बाप बनने वाले हो स्मार्ट बॉय मुझे ना मारने की वजह जानता हूं तुम्हारी शालिनी मेरे पास है जॉन बोलो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ क्यों जरूरी बात करनी थी मैं भी तुम्हारी हिटलिस्ट में हूँ क्या सारी बात फ़ोन पे पूछेंगे मिलना नहीं चाहेंगे कहाँ से पीछा किया उनका कैप्टन के मठ वाले बंगले से उसे एमआईडीसी की किसी मिल में लेके गए हैं सर कैप्टन के कितने आदमी थे सर करीबन आठ दस लोग हैं सभी हैवीली आर्म्ड है सर ठीक है देखना शक ना होने पाए कि हमें पहले से खबर है क्या हुआ जॉन कोई प्रॉब्लम है क्या पुलिस कंप्लेंट लिखवानी होती तो थाने आ जाते यहां बुलाने की जरूरत है बताओ क्या बात है काम नहीं जरूरत मुझे आपकी और आपको मेरी कुछ और बात करोगे मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत हो सकती है और जल्दी हाँ ये बारिश में मुझे सर्दी हो जाती है शालिनी कैप्टन के कब्जे में तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है प्लीज सर शालिनी प्रेग्नेंट है तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है खुद का तो कुछ पता नहीं है और बीवी प्रेग्नेंट है मैं शालिनी और अपने होने वाले बच्चे की जान बचाना चाहता हूं तो मुझे एक बात बताओ जॉन मुझे अभी इस वक्त तुम्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करना चाहिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं गोली चलाने के लिए हाथों की जरूरत पड़ती है एसीपी साहब मैं आपको कैप्टन के खिलाफ सारे सबूत दूंगा अब शालिनी को बचा लीजिए ठीक है जान मैं शालिनी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान बचाऊंगा बदले में तुम मुझे दिया का सारा खानदान वापस करोगे अगर ऐसा कर सकता था तो जरूर करता जब तुम्हें किसी को जिंदगी देने का हक नहीं है तो तुम्हें किसी की जिंदगी लेने का हक किसने दिया जैसे शालिनी तुम्हारे लिए सब कुछ है वो मेरे लिए कुछ नहीं ठीक उसी तरह जिस तरह मेजर ठाकुर उसकी छोटी बच्ची और उसकी बीवी तुम्हारे लिए कुछ नहीं शालिनी मरती है तो मरे भागा लेकिन नहीं भागा क्योंकि मुझे पता था कि खुद से भाग कर खा जाऊं समझ में आया तो यही कि जो रास्ता मैंने चुना गलत था उम्मीद थी तो बस इतनी कि एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जॉन जानते हो मैं यहां क्यों आया था मैं एक बार उस जोकर की आंखों में देखना चाहता था वही आंखें जिन्होंने क्लब में हुए मर्डर के बाद मुझे चैन से सोने नहीं दिया तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो क्या जवाब है तुम्हारा क्या हुआ सर जाने दिया वापस आएगा हमारे पास मुझे बचाने के सारे रास्ते बंद नजर आए तो जॉन ने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी कैप्टन का तुरुप का पत्ता <laughs> तो पाटिल ने आपको बता दिया हम्म क्या रे हैंडसम खोपड़े घूम गई थी या और जीने को दिल नहीं चाहता या उस गंजे का बताया हुआ कोई नया फॉर्मूला आजमाने के लिए यहां मरने चला आया मरने नहीं मारने आया हूं कैप्टन ने एक हिटलिस्ट बनाई है जिसमें से जितने भी मरे उन लोगों के अलावा आप दोनों का नाम है तो किसी रेफरी को बुलाऊं सिटी बजाने के लिए <laughs> हाँ गोली को नहीं मारता काम की बात करो क्या करने आए हो जान बचाने आया हूं और कैप्टन की जान भी ले सकता हूं अरे खुद मौत के मुंह में खड़ा है और हमसे जान लेने देने की बात कर रहा है जोकर समझ रखा है हमें हम्म? आपका बेटा ठीक चार बजे सरकारी गाड़ी में हर रोज टेनिस खेलने जाता है है ना मतलब करना क्या है एक जान बचानी है खुद क्यों नहीं करता खिलाड़ी है इस वक्त वो काम सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है और इतफाक से तुम पुलिस ऑफिसर हो अगर तेरा इरादा धोखा देने का है तो बहुत बुरी मौत मरेगा और हाँ जब तक ये पाटिल वापस नहीं आता तब तक तू मेरे पास रहेगा इसी कमरे में मेरे साथ मत बढ़ना गोली मार दूंगा मैं किसको मारेगा तू उसको मारेगा या मेरे को मारेगा हा? मेरे को मारेगा तू हाँ? तो मारना मारना मार रहा है तुम लेके जाओ जस्ट गेट आउट सर वो अंदर हैं तुम यहाँ क्या करो गो एंड हेल्प हिम मैं इसे संभाल sir sir just you go it's an order sir but you just go sir come घबरा मत मुझे जॉन ने भेजा है I will take you there we will go to John okay sir वो डीसीपी शालिनी का है डीसीपी पाटिल ले गए सर ना है कैप्टन को कोई डबल क्रॉस नहीं करता कोई भी नहीं भाई पता नहीं वाघ वहां कैसे पहुंच गया मेरे लिए तो मामला बहुत रिस्की हो गया है टेंशन नहीं पाटिल कैप्टन के दिन खत्म हो गए डील के मुताबिक मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है अब तेरी बारी है जब तक तू कैप्टन का जनाजा यहां लेकर नहीं आएगा तेरी ये बेगम हमारे पास महफूज रहेगी <gasps> क्या रे आंसम चलो मुझे चल खिदमत कर इसके Hey! वेट बॉय तुम मुर्गियां पालने के लायक ही हो यहाँ से दूर चले जाएंगे बहुत दूर चले जाएंगे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे चार कंट्रोल रूम प्लीज मेरी तरफ देखो कंट्रोल रूम यूनिट 9 के साथ एम्बुलेंस भेजना यहाँ के खोला चार I'm sorry. भी बहुत ज़रूरत है मैं कोई अलग नहीं कर सकता कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है वो तो चले गए छोड़ गए अपनी यादें कुछ अधूरे सपने कुछ अधूरे वादे